ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ही निज जन जाना मुनिमति पुन तेरी भगवाना ऋषि मम मातशीलता देखी राम चरण रे साथ विषय मत विस्मय पुन पुन कचिताई सादर मुन मुहीन बुलाई मम परितोष विधि विविकीना हर्षित राम मंत्र तब दीना बालक रूप राम पर ध्यान सुखद मोहति भावान सुव्रत में तुम ही सुनावा मुहि कछुक काल कंगा राखा रामचरित मानस तर गाथा सागर मुनि कथा सुनाई मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई राम रामचरित सर्वोक्त सुहावा अंग प्रसाद तात मैं पावा कोई निज भगत राम कर जानी ताकि मैं सब कहूँ बखानी राम भगत जिनके उड़नाही तब उन तात कई दिन पानी मन मोहि विधि विभाति समृद्धावा मैं सप्रेम मुनि पद से निज कर कमल पर सिम शीशा हर्ष प्रयास दीन मुनीषा राम भगति अगर लौर तोरे बसु सदा प्रसाद मोरे सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन मान Thank you. राम रूप क्षामरण ज्ञान विराजन दान यही आश्रम तुम बसव पुनि सुनिरत श्री भगवंत काम विद्या जो जनक पर्यंत जनक पर्यंत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुख नाम की जय फलो क्षण हुए कौवे हो गए और कौवा को करके चल दिए अब उनको कालभूषण जी को उनके मन में कोई द्वेष नहीं था उन्होंने अगर साथ दे दिया कौवे को तो, तो साथ स्वीकार कर लिया और भगवान का स्मरण करते हुए चल दिए वे अपने मन में क्या सोचते रहे तो क्योंकि कि भगवान तो सर्वत्र हैं सबके हृदय में वास करने वाले हैं वो ही जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही व्यक्ति कार्य करता है इसलिए इसमें मुनि का कोई दोष नहीं काव्यशुद्ध के लिए इस प्रकार की जो भावना उनके मन में है तो शंकर जी उनको कहते हैं कि ये तो ऐसी बात है कि भगवान के चरणों में भक्ति होने का फल है जिसके कारण से काम को बाद विकास हम दूर हो जाते हैं और उसे प्रिय दिखाई देने का सारा जगत हमारे प्रभु स्वामी का ही रूप है इसलिए किसी को कोई विरोध क्या जैसे अपने इष्ट देव से परमात्मा से कोई विरोध नहीं किसी सारा जगत उसी परमात्मा का रूप है तो फिर किसी के विरोध कैसे हो सकता है कोई विरोध नहीं प्रतिरोध तो की बातें तो व्यवहार में दिखाई देती है वो जो दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है फिर तो ये एक तो कारण उसका ये है कि व्यक्ति में भेदय में भगवान की भक्ति नहीं है दूसरा ये ज्ञान भी उसे नहीं है कि अपने देव परमात्मा का सारा जगत उसका रूप है जब ये बोध नहीं रहता तभी विरोध खड़ा होता इसलिए आभूषण जी किस प्रकार से विचार करते हैं कि सुमुख अजय समय श्री ऋषि भूषण है वो तो ये कहते हैं कि देखो इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं मैंने लोनस ऋषि का इसमें कोई दोष नहीं तो उन्होंने हमको साथ दे दिया पकड़ दिया जब जो उन्होंने गलती की और सभी कहते उन्होंने गलती की देह हमें कोई दोष था फिर ये कैसे हुआ कैसे गुड़ प्रेरक रघुवंश विभूषण उनके हृदय में जो रघुवंश विभूषण भगवान राम प्रेरणा दे रहे थे जैसा उन्होंने फैलाया वैसा ही वो बोले भगवान ने उनसे <clears throat> निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करवाया तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का निरूपण कर दिया <clears throat> सगुण ब्रह्म का खंडन करवाया तो उन्होंने सगुण ब्रह्म का खंडन कर दिया ये तो भगवान ही उनके हृदय में करा रहे अब बताते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी सब कराते तो उसका कारण बताते हैं कृपा सिंह मुनिमति कर भोरी कृपाधान तो भगवान राम ने मुनि की बुद्धि को तो भोरी कर दिया मैंने मुनि क्या कह रहे थे क्या हो रहा था उनको कुछ पता नहीं भगवान ही उनके हृदय में बैठे हुए ये सब बोल रहे थे वैसी बुद्धि उन्होंने कर दी उनकी की और ली प्रेम परीक्षा मोरी और उन्होंने हमारे प्रेम की परीक्षा दी प्रेम के में हमारे हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम कितनी भक्ति थी ये उन्होंने परीक्षा दी अब देखो ये सोचने के विचार करने का ढंग इस प्रकार है भक्ति का विचार करने का ढंग कैसे है ज्ञानियों का विचार करने का ढंग कैसे है और फिर इनके विपरीत संसारी लोगों का ढंग कैसे संसारी व्यक्ति होगा वो तो अपने से अन्य व्यक्तियों को जैसा अपोजिट खड़ा हुआ जैसे युद्ध क्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों वैसे तो वो देखता एक ओर मैं हूँ और दूसरी ओर सारा संसार है ये सब मेरे विरोध में खड़ा हुआ है हम्म। ये सब मेरे मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है शब्दों का आक्रमण कर रहा है युक्तियों का आक्रमण कर रहा है मुझे इनसे डिपेंड करना है बचाना है इनसे और मुझे भी इनके ऊपर आक्रमण करना है कहीं कहीं इस प्रकार का आता नहीं कि जीवन क्या है वट इज लाइफ तो एक उत्तर उसका यह है कि लाइफ इज स्ट्रगल ये किनका उत्तर है संसारी लोगों स्ट्रगल के माने उनको दिखाई देता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी स्ट्रगल करो उससे करो झगड़ा करो लड़ाई उससे नया लड़ाई का शिकार होगा जब तक हम विरोध नहीं करेंगे छीना झट्टी नहीं करेंगे आक्रमण नहीं करेंगे तो अपनी रक्षा कैसे होगी हमारा फायदा कैसे होगा ये संसारी दृष्टि है ज्ञानी की दृष्टि क्या है कि आत्मा परमात्मा ये कही है मेरी ही माया के द्वारा सारे जगत की उत्पत्ति हुई ये समस्त जगत मेरे ही उदर में है समस्त प्राणी मेरे ही प्रतिबिंब है ऐसा मेरे ही मेरे अपेक्षा कहीं कुछ है नहीं अद्वैत जब अद्वैत है तो कहा विरोध अगर कोई व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा है गलत सलत बोल रहा है या नाराज हो रहा है तो हम ही तो उसके रूप में विद्यमान होकर के विरोध कर रहे हैं जैसे हमारे शरीर में ही जीव जो है वो दांतों के नीचे दब जाए तो दांत में जीव को काट ली तो दांत भी हमें और जीव भी हमें इसमें कोई दो दो थोड़े हैं तो दांत काट लेते हैं तो भी हमें और जीप कट जाती तो भी हमें और फिर हम हार हाय करते हैं जीप कट गई कट गई तो भी हमें कोई अलग अलग थोड़े इसी प्रकार संसार में कोई विरोध करता तो भी हमें नहीं विरोध करता तो भी हमें कोई प्रेम दिखाता तो भी हमारा ही रूप नहीं दिखाता तो भी हमारा ही रूप सब हानि है तो भी हमारी अपनी हानि है तो भी हमारी अपनी लाभ है तो भी हमारा अपना सब का सब अपने उसमें कहीं कोई कुछ कोई विरोधी कोई है नहीं ज्ञानी की दृष्टि ऐसी भक्ति की दृष्टि दिखा दी कि सर्वत्र परमात्मा हमारे प्रभु जो हमारे आराध्य हैं उन्हीं का रूप सारा जगत है विराट रूप परमात्मा के तो विराट रूप है वही परमात्मा ब्रह्म वही ईश्वर वही शरण गर्व वही विराट रूप समस्त जगत विराट परमात्मा का रूप है परमात्मा हमारे इष्ट देव हैं पूज्य हैं तो जब पूज्य है हमारे तो सारे जगत ही हमारे लिए पूज्य हो गया इस जगत में कोई हमारे लिए विरोध तो कौन है अगर कभी कोई विरोध दिखाई देता है तो वो हमारी ही परीक्षा है कि अभी हमारी भक्ति उतनी नहीं है अगर विरोध दिखाई देता अगर विरोध नहीं दिखाई देता तो उसके मान हमारी भक्ति पूरी है ये तो बहुत सिंपल सी बात है उसमें कौन कोई जो है इसमें कोई बहुत कठिन भिन्न नहीं है कि हम न हो समझ में ना आवे क्या मामला है क्या नहीं है को सुतनी भाव लेकिन कोई व्यक्ति तो सुन करके भी न सुने शास्त्र को पढ़ करके भी न पढ़े जान करके भी न जाने ये बात देखते इसलिए कहते कथा सुंदर मुनिमत कर घोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी कहते मन बच कर मोही मुझे बन जाना और जब भगवान ने ये समझा कि हम मनबानी कर्म से भगवान के ही भक्त हैं तो मुनिमत पुनि फिर भगवाना तो भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर फेर दी अब फिर फेर दी आगे करके अब फिर क्या बुद्धि फेर दी ऋषि ने महत्वशीलता देखी लोगों ने सोचने देखा उनकी बुद्धि में यह आया अरे ये तो हमने इसको कभी को साथ दे दिया तो भी कोई घबराया नहीं न कोई डरा न कोई व्याकुल हुआ न उसे कहीं चिंता कुछ नहीं लगी ये तो बड़ा शांत स्वभाव का है बड़ा महान है भगवान में बड़ा विश्वास है तो देखा कि मतशीलता मेरा सहनशीलता मेरी बहुत देखी शीलता के मैंने यहाँ सहनशीलता कितना सहनशील मैं हूँ ये उन्होंने भगवान उन्होंने भ्रमर से देख लिया और रामचरण विश्वास भी सीखी और ये भी देखा करे इसके हृदय में तो भगवान के चरणों में बात करेगी <clears throat> तो जब उन्होंने को ये दिखाई दिया तो अति विस्मय पुनि पुनि पछताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ दोनों से इसको ऐसा लगा कि ऐसा अचल भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति को तो हमने संसार में देखा नहीं देखो इसको इसके हृदय में भगवान के कितनी भक्ति भगवान राम के प्रति कितना विश्वास कैसे जरा आस्था उन्होंने कितना हमने कहा साफ कौवे के साथ कर दे दिया कौवा भी हो गया तो भी अपने अपने अपने पक्ष को नहीं छोड़ा हमें क्षमा मांगी कि हमने गलती की अब हम छोड़ देते हैं सगुण पक्ष का आराधन और अब हम आप निर्गुण कहोगे तो वही मान लेते हैं लेकिन कुब्बा मत बनाओ ऐसे भी नहीं कहा ना मैंने अपने पक्ष में ऐसी डरता भक्ति का सिद्धांत ये है कि भक्ति पक्ष में डरता तो होनी चाहिए भक्ति पक्ष में सत्फल तो होना चाहिए लेकिन नहीं ही सटता नहीं भक्त पक्ष हट नहीं ही भक्त पक्ष में हट तो ठीक है से भक्ति पक्ष पकड़े रहो लेकिन सफता न करो सफता के बाद गाली गलौज न करो लोगों को हल्ला करवा मत बताओ दूसरे लोगों की निंदा मत करो ज्ञानियों वगैरह का खाल मत मचो उनके ये सब करना जो सत्ता है तो सत्ता न मैंने अपने आप अपने भक्त हैं और शांत होकर के अपने भक्त भाव में स्थित रहें उसी में प्रसन्न रहें बाकी किताब में वैसी कर दिखा प्रसन्नता के साथ में तो वे अपने हो गए तो इनकी सहनशीलता जब मुनि ने देखी और भगवान के चरणों में प्रेम देखा तो फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और पश्चाताप भी हुआ उनका बिल्कुल पछताई बार बार पछताने लगी करे कहाँ से ऐसे भक्त को भी हमने साथ दे दिया कर देगा ये तो नहीं करना चाहिए तो कहाँ क्रोध आ गया हमको मैंने पश्चाताप तब होता है जब कोई व्यक्ति गलती करता है तब उसके बाद गलती के बाद उससे पश्चाताप गलती करता तो उसे पता नहीं चलता पश्चात मैंने बाद में और बाद में क्या हुआ ताप ताप संताप पीड़ा हुई दुख हुआ कैसे हम्म, कहते हैं पश्चाताप जो कर गए उसे कर गए उस समय साथ दे दिया उसे साथ दे दिया लेकिन बाद में उनको दुख हुआ कि हमने हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था साथ नहीं देना चाहिए ये उनका पश्चाताप था तो उनके मन में इस प्रकार का पश्चाताप आया और सागर मुनि ने बुलाई तत्र उन्होंने अपने आप को सुधारा और सुधार करके फिर आदर पूर्वक हमको फिर बुलाया अब उसने उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई अब हमने एक बार उसको साथ दे दिया तो जाने दो ऐसा नहीं किया जब उनको समझ में आया हमने गलती की तो उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया देखो महापुरुषों के लक्षण ये भी हैं गलतियां अज्ञाने से भी होती है अनजानियों से भी होती है अज्ञानी गलती करता है तो उस गलती को सुधारने को तैयार नहीं होता उसमें उसको अपनी रेखी लगती है कमी लगती है गलती हो गई तब गलती तो तो। को ही नहीं यही ठीक है नहीं यही ठीक है लेकिन जाने पर उसको समझ में आ जाए कि हमसे गलती हो गई तो उस गलती को सुधार लेगा भी होता है उसका तो गलती होगी हटा सही कर दो लोगों से समय जो अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार कर लिया बड़े आदरपूर्वक पूर्वक प्रकाश भूषण को बुलाया अपने पास बुलाया अब योगी ने कहा कृष्ण नाते उनके साथ कहते अच्छा अब कहा बुलाया हमको तुमने तो पहले कब्जा कर दिया था हम्म? तो ऐसे नहीं करते ये भी सब बच्चों की बात है अज्ञानियों की बात है कहा जी आते हैं आकर पूर्वक उनके पास आए उन्होंने बुलाया तो आदि है कब्जा बोल दिया उनको तो कब्जा बोल कर बोल भी गए बुलाया तो आदि है फिर आ गए उनके पास योगेश ने भी अपने को सुधार कर लिया उनको बुला लिया तो अब बुला करके मन परितोष विधि विधि की ना और उसके बाद हमारा परितोष किया परितोष करने के मैंने जो गलती हो गई थी उसको उन्होंने कहा कि भाई तुमको हमने साथ दे दिया ये ठीक नहीं किया तुमको भगवान के बड़े प्रशंसा की उनकी परितोष करने के लिए प्रशंसा भी करनी पड़ती है अब मान लो गलती से किसी को आपने मार दिया डांट दिया तो पता लगा उसकी गलती है ही नहीं तो कहे भाई तुम बुरा मत मानना देखो हमने गलती से तुमको इस प्रकार से त्याग दिया या गलती से तुमको मार दिया ये ठीक नहीं था इस प्रकार से जो उसको जो वो परतोष करते हैं समझाते तो ऐसे करके उन्होंने समझाया मन परतोष विविध विदित ना परतोष किया तो उन्होंने तो ये समझ किया कि इसके मन में हमारे प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया होगा या क्रोध आ गया होगा इनके मन में भी कालकृष्ण के मन में भी या दुख हुआ होगा तो उसको पहले दूर करें उनके चित्त को शांत करने के लिए उनको निर्विकार करने के लिए उनको परितोष किया जब परितोष किया तो मान लो कि कालभूषण के मन में कोई विकास था भी तो वो समाप्त हो गया कोई विरोधी भाव उत्पन्न भी हो गया था तो भी समाप्त हो गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं था कोई विरोधी भाव आया नहीं था लेकिन लोगों से इसकी ओर से मान लो आया भी हो तो वो समाप्त हो गया तो मन परितोष विधि विधि विधि ना हर्षित राम मंत्र करती ना और फिर जब संतोष हो गया शांति हुई तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम तुमको जैसा तुम्हारा स्वभाव है जैसे भगवान में भक्ति है अब ऐसा ही उपदेश अब हम तुमको करेंगे तो अब तुम्हारे लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अब भगवान राम का मंत्र जब भगवान राम के तुम भक्त हो तो भक्त तो ये पहले हैं और मंत्र इनको बाद में मिलता है तो यही देखो मंत्र दीक्षा की व्यवस्था इसी प्रकार से कि पहले देखो किसमें भक्ति किसकी है थोड़ी है ज्यादा है कुछ भी है जिसकी कहा जिसमें भक्ति हो उसी के प्रकार का मंत्र उसको दीक्षा में मिलता है दिया जाता है कि देखो इसको यह भक्ति इस प्रकार की है ऐसी उसको तो इनको भगवान राम की चरणों में भक्ति थी तो उनको वही मंत्र दे दिया राम मंत्र तक दीना राम मंत्र वही है इनको दिया कौन राम मंत्र मैंने राम स्वयं एक मंत्र है वो दे दिया लेकिन कहीं कहीं उपनिषदों में उत्तर में जयराम उपनिषद में उसमें इस प्रकार से आता है कि भगवान राम का जो मंत्र है छह अक्षरों का मंत्र है उस छह अक्षरों वाला मंत्र उन्होंने लोमस उसने काभूषण को दिया तो हर्षित राम मंत्र कर दीना और बालक रूप राम कर ध्याना और फिर मंत्र दिया तो मंत्र इसलिए दिया तो मंत्र जपें रोज जो है वो हो दो चार माला दस माला रोज माला मंत्र का जपे जहां तक तो निरंतर भी जपते रहे इस प्रकार के मंत्र जपने का तरीका ही बता दिया विधान बता दिया फिर ये कहा कि भगवान का ध्यान भी करो दूसरा काम ध्यान है तो उपासना में मंत्र जप और ध्यान जो विशेष बातें हैं तो वो दोनों बता देते हैं और कहते हैं बालक रूप राम कर ध्याना फिर भगवान का ध्यान करने को बताया कि कैसा ध्यान बताया बालक रूप राम का ध्यान बताया कि अपने हृदय में भगवान का स्मरण करो और कैसा स्मरण करो तो उन्हें सब बता दिया भगवान ऐसे ऐसे हैं ऐसा स्मरण ये भी उपनिषदों में दूसरे ग्रंथों में आता है यहाँ पर तो नहीं है आगे तक तो सबके पास स्मरण कर देते हैं कि जैसा हमने तुमको पहले बताया था वैसे वही से उन्होंने ध्यान हमको बता दिया कि मैंने ये कालभूषण जब जाते हैं अयोध्या में वहां भगवान की बाल लीलाएं देखते हैं तो जैसे भगवान की बाल लीलाएं होती हैं जैसा उनका बाल रूप है जैसे ऐसे घुटनों से चलते हैं जैसे ऐसे परछाई को देख देख करके नाचते हैं बस वही रूप उनका ध्यान वो हो उन्होंने बताया कि देखो बालक रूप में भगवान राम का ध्यान एक मिशन में बालक रूप ध्यान का ये कि पहले तुम अयोध्या का ध्यान करो एक अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी में राजभवन का ध्यान करो ये राजभवन है राजभवन में के उसके एक कक्ष का ध्यान करो जो महाराज दशरथ जहाँ वास करते हैं उनका कक्ष है वहां पर उनके घर वो स्वर्ण की और चांदी का बना हुआ आसन भी है उसके ऊपर वो बैठते हैं तो देखो कि महाराज दशरथ उस सिंहासन के ऊपर ये इनका राज दरबार वाला सिंहासन है अपने घर वाला सिंहासन आसन जो है जहाँ पर ये बैठते हैं अपने वो जो उसका स्मरण करो फिर महाराज दशरथ का स्मरण करो कि दशरथ उसके बैठे हुए हैं और फिर उनके दशरथ की गोद में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं उनके भगवान राम बैठे हुए हैं उनके भगवान राम का फिर उनका स्मरण करो फिर उनके सुंदर शरीर को देखो कि कैसा उनका सुंदर रूप है कैसे उनके विशाल नेत्र हैं कैसे उनका एक एक अंग चमचमाता हुआ मन के समान प्रकाशमान के जो है तो वो सब स्मरण करो भगवान राम जो है प्रसन्न होकर के कार्य कर रहे हैं हंस रहे हैं महाराज का शक्ति गोद में बैठे हुए हैं इस प्रकार से उनका रूप का स्मरण करो ये सब ब्रह्म पुरुष में आता है उसी प्रकार का जो ये बालक रूप राम कर ध्याना और बालक रूप ऐसे बताते हैं कहते हैं इसमें ऐश्वर्य नहीं है इसमें केवल जो है उनका बाल रूप का जो है वो विनोदी रूप उनका भगवान का है वही रूप है उनका उसी की विशेषता अधिकता वही है इसलिए बालक रूप बताते हैं भगवान शिव भी भगवान राम का ध्यान करते हैं तो इसी बालक रूप बाल रूप में ध्यान करते हैं तो ये सब जितने भी भक्त हैं तुलसीदास जी भी बाल रूप भगवान का ध्यान करते हैं वो एकादशन संजय करते हैं वही शंकर जी भी करते हैं सब में देखते हैं भगवान की लीलाएं बहुत लेकिन बाल रूप का ध्यान करते हैं कहते हैं बाल बालक रूप राम कर ध्याना और कही उन्मोय मुनि कृपा निधाना ये तो बालक रूप का ध्यान उन्हें कृपा निधान मन मुनि ने कृपा करके कृपा निधान मुनि ने मुझसे वो सब कहा अब देखो इनको ये नहीं कहते मुनि विष्ट है हमारे ऊपर तो ऐसे नहीं कृपा निधान है अब वो लोमस ने कालभूषण के ऊपर कृपा की और उनको मंत्र भी दिया उनको ध्यान करने की विधि बताई ये पहले नहीं सब बताया था अब उनको सभी से सब बताया होगा और सुंदर सुखद बोन यदि भावा अब कालभूषण कहते हैं कि वो ध्यान जब उन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा बड़ा प्रिय लगा इनमें भक्ति वैसे थी पहले से और जब वही उन्होंने शिक्षा भी दे दी वही उपदेश दे दिया तो इनको कहते मुझे बहुत प्रिय लगा वो सुंदर सुखद मोहिनी अति भावा और सो बखना नहीं तुम्हें सुनावा कहते तो वो तो भगवान का रूप कैसा था जो उन्होंने ध्यान करने में बताया वो हम तुमको पहले बता ही चुके हैं जब ये पिछली बार उन्होंने बताया कि भगवान राम ने अवतार लिया अयोध्या में तब वहां गए तो और फिर वहां भगवान का सुंदर रूप देखा तो वो सब उसका वर्णन कर चुके हैं सुनाई चुके हैं तो मन मुझे छुप काल कह रहा था तो दो बातें भी हो गई और एक बात और रह गई तो फिर मुनि ने फिर ऐसा नहीं कहा कब जाओ तुम जब करो जा करके ध्यान करो जा करके ऐसा नहीं बोला उनसे ये कहा कि कुछ दिन और रहो और अब करके फिर उन्होंने क्या किया रामचरित मानस तो भाखा अब उसके बाद भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई अब ये भगवान का ध्यान करते रहते थे भगवान राम का मंत्र जपते रहते थे और फिर भगवान की जो कथा चलती रहती थी वो कथा भी सुनते थे तो कई दिनों तक मैंने इसका भी पशु काल के माने है काफी समय तक वहां पर वो रहे और रहे रोज रोज उनको भगवान की कथा सुनाते रहे लोमस उसने कथा सुनाई और कालभूषण जी ने वो सारी कथा विस्तार पूर्वक गुरु के मुख से सुनी कहते फिर क्या हुआ कि सादर ने ये कथा सुनाई उन्होंने ये बड़े आदर पूर्वक ये कथा सुनाई प्रेम पूर्वक कथा सुनाई और से उसको भगवान में प्रेम वैसी था भक्त वो भी थे ज्ञानी थे तो क्या हुआ भक्त भी थे तो उन्होंने बड़े भक्तिपूर्वक बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की सारी कथा उनको सुनाई और फिर कुल बोले मिल गिरा सुहाई जब कथा हो गई तब उन्होंने बाद में ये कहा कथा समाप्त होने के बाद में एक सुंदर बात उन्होंने और कही तब तो जो कथा सुनाई हो तो इन्होंने सुनाई दी कालकृष्ण ने अभी तो इनसे जरूर पूछे कालकृष्ण तो से क्या कथा सुनाई तो आप समझ लो कि कथा जो हमने तुमको सुनाई भाई उन्होंने सुनाई थी भाई हमने उनसे सुनी हो तो गई तुमको सुना दी लेकिन कथा सुनाने के बाद उन्होंने एक बात ये भी कहा कि रामचरित्र सर्वगुप्त सुहावा तो देखो कि ये जो जो कथा है ये रामचरित सर है मैंने रामचरित मानस है सरकमन मानस ये रामचरित मानस है और ये बड़ा ही सुंदर है और एक विशेषता ये है कि गुप्त है ये तो गुप्त क्या है ये बीजानी गुप्त की तरह सभी पढ़े हैं सब जगह जगह सबके पास है उसमें गुप्त क्या है लेकिन ये जितना पुस्तकों में लिखा उतना ही नहीं है हाँ, ये और भी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है तब उसमें कुछ गुप्त बातें और होती हैं वो भी बताता है जो कि सब पुस्तकों में नहीं लिखी होती है वो भी सब इस प्रकार से रामचंद्र मानस जो हुए जो एक गुण दूसरे शिष्य को बताता है पढ़ाता है सुनाता है वह एक गोपनीय रहस्य है ये सब जगह आता रहता है ऐसे वेदांत में भी आता है वेदांत भी एक गोपनीय रहस्य है गीता में भी भगवान बोलते रहते हैं हम्म, कि देखो गुजरात गुह्य परम शास्त्र ये गुह्य गुह्य से भी गुह्य शास्त्र है वो हमने तुमको देखो अर्जुन तुमको बताया ये गुरु शास्त्र में छिपा हुआ ज्ञान है बहुत ही गंभीर ज्ञान है ऐसा गुरु ज्ञान इसकी इसको छिपा हुआ क्यों है अगर क्यों नहीं कर देते सब जगह कहते हैं उसका कारण बताएंगे लेकिन गुप्त ज्ञान जो है ये कालभूषण कहते हैं मुझे भी प्राप्त हो गया कैसे प्राप्त हो गया जिस समय प्रसाद ताप में पावा ये शंकर जी के पास मुझे प्राप्त हुआ हाँ, पहले श्री श्री ने कहा था कि ये ये रामचरित मानस कहाँ से हुआ तो कहते भगवान शंकर जी ने दश महेश ने जो मानस रहा था भगवान शंकर जी ने इस रामचरित मानस की रचना भगवान शंकर जी ने की और उसको अपने मन में रखा और फिर जब समय आया तो शिवासन ने भाषा तब समय आने पर उन्होंने पार्वती जी को सुनाया और फिर वही जी दीना रामचरित अधिकारी सीना फिर उन्हीं ने वही शंकर जी ने उसी उसी ज्ञान को उसी रामचरित मानस को कागभूषण को भी सुनाया दिया कागभूषण ही देना और वहां पर सुनाया तो पार्वती जी लेकिन दिया कागभूषण जी अब दिया सुनाया उनका अंतर है तो दिया के मैंने लिया कि शंकर जी ने इनको कागभूषण को पहले ही सात के बाद वरदान भी दे दिया था भगवान की भक्ति के लिए दे दिया था कि तुमको भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होगी तो उसकी अविरल भक्ति प्राप्त होने के लिए राम भी चाहिए भगवान का ध्यान चाहिए उनकी कथा भी चाहिए भगवान के चरित्रों का भी ज्ञान होना चाहिए तो ये सब कथन भगवान शंकर जी ने ही कराया लोमस ऋषि के द्वारा भगवान शंकर ने ये रामचरित मानस हम्म, बालकृष्ण जी को सुनवाया इस प्रकार को ऐसा नहीं है कि एक जगह कर दिया शंकर जी ने दिया दूसरी जगह कर दिया लोमस ऋषि ने दिया तो दो विरोधी बातें हैं दोनों में एक मैंने वही भगवान शंकर जी ने लोम ऋषि के द्वारा ये ज्ञान कागोषण जी को दिया तो दोनों की बात होगी चाहे कि लोम ऋषि से ज्ञान प्राप्त हुआ चाहे को शंकर जी से ज्ञान प्राप्त हुआ तो सर्व प्रसाद पात्र में पावा और कोई भगत राम कर जानी और फिर हमने तुमको भी देखा तुम भी भगवान के बड़े भक्त हो तो ताते मैं सब कहूँ बखानी इसलिए वो मैंने अब तुमको भी सुना दिया जैसा मैंने उनसे सुना था जाना था वैसे ही हमने तुमको भी सुना दिया मैंने ये गुप्त फिर हमने नहीं रखा तुमको वो सब बता दिया तो प्रगट हो गया राम भगत जिन के और ही अब देखो गुप्त का राह बताते हैं जिनके कथन में भगवान की भक्ति नहीं है तब हम पाठ कहिए बिन पाही उनको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए मैंने कैसे पता लगे भगवान की भक्त नहीं है तो भगवान की कथा में जगह जगह दोष लगाएंगे अरे का झूठी मूठी कथा गप क्यों हाँकते तो उनसे कहते रहें तो गप न सुनो तुम जाओ जिसको ये भगवान में प्रेम हो हम्म, उसकी गंभीरता को समझते हैं तत्व को जानते हैं उनको कुछ इस प्रकार को तभी कथा सुनाई अब इसे कथा सुनाने में अब कथा के दिन कितनी होती रहती है और कहाँ कौन कौन परीक्षा लेता है किस व्यक्ति को कौन है कि नहीं है तो एक सामान्य बात तो ये है जबकि किसी व्यक्ति भक्ति होती तो सुनता ही नहीं है भक्ति नहीं होगी तो सुनेंगे नहीं सुनने जाएगा नहीं मन में कथा हो रही है कालभूषण जी अपने वहाँ पर्वत पर बैठे हुए रोज कथा सुनाते रहते हैं तो सुनने वाले जाते हैं उनसे सुनते हैं हर कोई थोड़ा सुनता है नहीं सुनने जाता सुनने के लिए खुला हुआ है ऐसा थोड़ी कालभूषण ने किसी भी देखा रहे आगे आगे आपका पाबंद कर दो ये कहा से आ गया भगवान का भक्त नहीं कथा बंद करते कैसे ऐसे करते नहीं वो तो कथा सुनाते रहते लेकिन जो अनधिकारी वो कथा सुनने नहीं जाते हम्म, तो कोई कथा सुनाने वाले बात को चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि इसको कथा सुनाओ कि न सुनाओ अनधिकारी व्यक्ति जाएगा नहीं पहली बात तो और दूसरी बात कदाचित अनधिकारी व्यक्ति पहुंच भी गया कथा सुनने के लिए तो वो कथा सुन नहीं सकता हम्म। एक बार जो है वो वो भी बात बता दी उसमें बाल ब्राह्मण जो कथा आई <clears throat> उसमें कहा तो देखो शंकर जी एक बार त्रेता युग माही शंभ गए कुंभज सुपाही संघ सती जग जनन भवानी इस पूजे अखिलेश्वर ज्ञानी जहाँ ये प्रसंग आता है वहाँ पर ये आता है कि फिर जो हो अगस्त ऋषि में